और जब ये उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए और जब ये अपने शैतानों के पास तन्हाई में जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं हम तो मजाक कर रहे थे